सो लेट जेंटमैन अगली आइटम हम शुरू कर रहे हैं इस आइटम के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जब तक ये माइक्रोफोन सेट कर लें और कहानी ये सच्ची है सिक्सटीज़ की बात है मुझे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली जाने का मौका मिला तो वहाँ आपको मालूम होगा कि पंडित रविशंकर से पहले बहुत मशहूर तबला नवाज थे आप जानते होंगे पंडित चतुरलाल जी तो Pandit Chaturlal ji came to Britain with Pandit Ravi Shankar first time. And he was very well-known tabla player and he was on the staff of Hall India Radio. And I happened to be there. I, I was very much impressed with uh, Pandit Chaturlal. And those days there was a song by Mukesh from film Parvish, which started with the notes of Sarangi. आंसू भरी हैं जीवन की राहें वो शुरू होता है सारंगीज के साथ तो मैंने कहा उनसे कहा यार देखो कितनी खूबसूरत पीस बजाया है तो बोलते हैं जिसने ये पीस बजाया है उसको आपने सुनना है मैंने कहा वो तो बॉम्बे में है बोलते नहीं मैं आपको सुनवाता हूँ और सच मानिए कि वो मुझे अपनी स्कूटर पर ले गए दिल्ली पता नहीं किस दिल्ली के किस इलाके में थे मुझे रात का वक्त तो वहाँ गए तो पंडित राम नारायण का वो घर था मैं तो हैरान रह गया कि पंडित राम नारायण और लेकिन आज पंडित राम नारायण को तो हम स्टेज पे पेश नहीं कर सकते उनके एक शागिर्द को पेश कर रहे हैं तो दोस्त उनका स्वागत कीजिए सुरजीत सिंह वही उनका अंग है सुरजीत सिंह जी का और जिस तरह बड़े बड़े उस्तादों का हम जिक्र खैर कर रहे हैं इसी तरह एक और नाम है जिनको दुनिया भर में शायद ही कोई संगीत प्रेमी हो जो ना जानता हो वो हैं पंडित शिव कुमार जी शर्मा जिनके संगीत में उनका संतूर सुनकर ऐसे लगते मुझे एक कतील का शेर याद आ जाता है हमेशा जब कोई काली घटा झूम के लहराती है जब कोई और काली घटा झूम के लहराती है दिल की वादी से पपीहे की सदा आती और मैं तेरे लम्स लम्स कहते हैं टच मैं तेरे लम्स का शायदा हूँ मगर बस इतना फूल को जैसे हवा छू के गुजर जाती है तो ये भी फूलों को छूने वाली श्रुतियाँ हैं जो आपके दिलों को छू कर गुजरेंगी और पंडित शिव कुमार जी शर्मा के शागिर्द बहुत सीनियर शागिर्द हैं किरण पाल सिंह जी आपके सामने पंडित राम नारायण जी ने ही नहीं दिल्ली को लूटा है दिल्ली के एक और लूटने वाले हमारे साथ हैं आज ये हैं तबला वादक चंद्र मोहन जी दिल्ली घराने के बहुत बड़े कलाकार हैं शायद ही हिंदो पाक का कोई कलाकार हो जिनके साथ इन्होंने संगत ना की हुई उस्ताद सलामत अली जसराज जी और मैं बहुत से नाम भूल जाऊंगा रवि शंकर उस्ताद अमजद अली खां और जितने बड़े बड़े उस्ताद उनके साथ इन्होंने संगत की है चंद्रमोहन जी का स्वागत कीजिए तो आओ इन कलाकारों को सुने